और क्या है उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें अजाब ना दे हालांकि वो मस्जिद हराम से रोकते हैं हालांकि वो उसके मुतवली नहीं हैं उसके मुतवली नहीं हैं मगर मुत्तकी लोग लेकिन उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं